जाहिर है कि विक्रांत कभी नैना के विरुद्ध नहीं बोल सकता सो उसने रूही को समझाते हुए कहा अरे पागल हो क्या तुम दिमाग खराब है क्या बात कर रही ये सब रूही तुम अभी टीम में नई हो तुम्हें बहुत कुछ अभी सीखना और जानना है नैना मैडम तुम्हें सिखाने के लिए ही ऐसा कर रही हैं तुम्हारे अच्छे के लिए कुछ भी हो मैं नहीं रहूंगी उनके साथ बहुत चिल्लाती है वो मुझे रूही ने जवाब दिया अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें चुपचाप जाओ नैना मैडम के पास विक्रांत ने रूही को फटकारते हुए कहा ठीक है जा रही हूँ आपने उन्हें ये तो बताया ना कि हमारे बीच सोलन में क्या हुआ था रूही ने विक्रांत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा मतलब अचानक से विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया मतलब यही कि आपने नैना मैडम को बताया तो है ना कि आप मेरे साथ एक बेडरूम में रात भर सोए थे मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कहीं नैना मैडम के साथ साथ काम करते वक्त मेरे मुंह से ये बात निकल ना जाए रूही की ये बात सुनकर हर्षित बिल्कुल शॉक्ड रह गया मानो अभी वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ेगा लेकिन फिर भी वो किसी तरह से खुद को संभाल कर कुर्सी पर बैठा रहा ओ धमकी तुम मुझे धमका रही हो अपने सीनियर ऑफिसर को धमका रही हो इतनी हिम्मत तुम्हें पता भी है इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है विक्रांत ने रूही को आंखें दिखाते हुए कहा मुझे नहीं पता मुझे तो बस उस पनिशमेंट के बारे में पता है जो आपने यहाँ और यहाँ और यहाँ दिया था आ, कितनी बार दिया था रूही ने अपनी छाती और शरीर के अन्य सेंसिटिव अंगों की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा अब तो विक्रांत की हालत देखने लायक थी उसकी हालत देखते हुए हर्षित के लिए अपनी हंसी रोकना बेहद मुश्किल हो रहा था तुम मुझसे दिमाग लगा रही हो हाँ मतलब मेरी बिल्ली मुझी से मियाँ विक्रांत ने बेहद गुस्से में आकर रूही को तरेरते हुए कहा मुझे कुछ नहीं पता मैं तो बस इतना कह रही थी कि कहीं अगर मैं नैना मैडम से ये कह दूं कि आप मेरे साथ बेडरूम में नहाए थे और फिर हम दोनों एक साथ एक ब्लैंकेट में रूही ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा ओए बकवास बंद कर अपनी बस शांति से काम में लग जाओ अभी रूही ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि उससे पहले के विक्रांत ने उसे अपने साथ काम करने की परमिशन दे डाली विक्रांत ने किसी तरह से रूही से अपना पीछा छुड़ाया था ओ वाह थैंक यू सर रूही ने बेहद खुश होते हुए जवाब दिया हम्म ठीक है ठीक है विक्रांत ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा फिर रूही ने कुछ देर तक व्हाइट बोर्ड पर बड़े ध्यान से देखने लगी व्हाइट बोर्ड पर नोट की गई एक एक इन्फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से नोटिस करने लग गई कुछ देर तक बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड पर देखने के बाद उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए सवाल किया सर ये लॉक्ड रूम क्या है लॉक्ड रूम मतलब चूंकि विक्रांत इस वक्त काफी गुस्से में था ऐसे में उसने रूही के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि हर्षद ने रूही को समझाते हुए कहा अरे एक्चुअली ऐसा है कि ये जो घर का फ्रंट डोर है सिर्फ भीतर से लॉक किया जा सकता है तो इसलिए हम लोग केशव पंडित वाले केस को लॉकड रूम मर्डर केस मान के चल रहे हैं ओ तो कहने का मतलब है कि अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि केशव ने ही अपनी पत्नी का खून किया है लेकिन फिर वो बार बार खुद को बेगुनाह क्यों कह रहा है रूही ने बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड की तरफ देखते हुए कहा इसके बाद उसने सवाल किया एक चीज और ये फ्रंट डोर के पास में कोई मिरर वगैरह था क्या मिरर क्या मतलब मैं समझा नहीं ये सवाल क्यों पूछ रही हो विक्रांत अचानक से बोल पड़ा हाँ मिरर तो था हर्षद ने तुरंत ही रूही के हाथ में एक डॉक्यूमेंट पकड़ाते हुए कहा इस डॉक्यूमेंट में घर के मेन डोर की फोटो थी जिसे कि क्राइम वाले दिन पहुंची पुलिस द्वारा क्लिक किया गया था रूही ने बड़े ध्यान से इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद सवाल किया वैसे मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं किसी भी डोर को शीशे की मदद से खोल सकती हूँ तो हो सकता है कि मर्डरर ने भी दरवाजे को शीशे की मदद से भीतर से लॉक कर दिया हो ये करने के बाद उसे बस मिरर को पहले वाले स्थान पर सुरक्षित रखना ही था अगर वो ऐसा करके गया होगा तो फिर क्राइम सीन पर उसके आने या जाने का कोई सबूत नहीं रहेगा वाकई में ये इन्फॉर्मेशन तो काफी शॉकिंग थी आज तक विक्रांत ने इस तरह की चीज पहले कभी नहीं सुनी थी रूही की ये इन्फॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग थी तो तुम ये कह रही हो कि ये जो डोर लॉक वाला सीन है ये नजर का धोखा या मतलब मैनुपरेटेड क्राइम सीन भी हो सकता है हम्म बिल्कुल हो सकता है रूही ने हल्का हंसते हुए कहा मुझे क्राइम सीन पर ले चलिए एक बार अगर वहां पर किसी ने मिरर के साथ कोई छेड़छाड़ की होगी तो मैं एक नजर में इसे देखकर बता दूंगी बल्कि मैं तो ये कह रही हूं कि स्काईलाइट पाइप या फिर खिड़की तक से भी अगर किसी ने कोई छेड़छाड़ की हो तो हमें उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए वाह हर्षित ने अपने माथे पर आ रहे पसीने को साफ करते हुए विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा विक्रांत भी इस वक्त बेहद चकित होकर बैठा हुआ था रूही की बातों ने उसका दिमाग घुमा दिया था सच में अगर रूही ना आई होती तो शायद कभी विक्रांत इस पॉइंट तक पहुंच ही ना पाता देखा कह रही थी ना कि मुझे आप अपनी टीम में ले लीजिए रूही ने विक्रांत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा नैना मैडम को मेरे टैलेंट का अंदाजा ही नहीं है वो बस मुझे परेशान करती रहती है रूही मेरा कहने का मतलब है कि नैना का केस कैसा चल रहा है आपने केस की चर्चा करते हुए विक्रांत अपनी विरोधी टीम का हाल पूछना नहीं भूला था हम्म अभी तो लास्ट वाली डेड बॉडी मिली है वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है मतलब बिल्कुल सड़ चुकी है रूही ने बताया उधर फ्लैट में ऊपर नीचे लोग रहते हैं और फिर भी उन लोगों को ये पता नहीं चला कि उनके बगल वाले फ्लैट में पिछले एक महीने से डेड बॉडी पड़ी हुई है ओ तुम वो करंट से मरने वाले विक्टिम की बात कर रही हो ना विक्रांत ने रूही से कंफर्म किया हम्म उसी की बात कर रही हूँ रूही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जिस तरीके से उसने मर्डर किया है मुझे नहीं लगता कि कातिल कोई प्रोफेशनल किलर है क्योंकि उसने पहले किसी तरह से विक्टिम को बेहोश किया और फिर उसको घसीटते हुए इलेक्ट्रिक डोर के पास ले गया इस टाइम कातिल ने खुद को करंट से बचाने के लिए खास तरह का कपड़ा भी पहन रखा था फिर उसने विक्टिम का हाथ पकड़कर इलेक्ट्रिक डोर में फैलकर उसे करंट लगवाने की कोशिश की फिर उसने पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए क्राइम सीन को कुछ इस तरह से क्रिएट करने की कोशिश की जैसे मानो विक्टिम का हाथ गलती से इलेक्ट्रिक डोर में जाकर फंस गया नॉनसेंस